करने के करीब मजबूत कच्चा तेल पचपन डॉलर के पास सपाट सोना ढाई सौ गिरकर अड़तालीस हजार छह सौ के पास चांदी बारह सौ रुपए उछलकर सड़सठ हजार सात सौ के पास कमेंस फिडिलाइट ल्यूपिन और टाटा केमिकल्स के नतीजा अनुमान से बेहतर बीएल यूबीएल और एमएनएम फाइनेंस ने किया निराश आज निफ्टी की आठ कंपनियां जारी करेंगी तिमाही नतीजे Cipla doctor Reddy Sun Pharma Tata Motors Tech Mahindra IOC industrial bank और यूपीएल पर होगी नजर वायदा बाजार की नौ और कंपनियां भी आज जारी करेंगी नतीजे DLF SAIL Dabur Manappuram finance Vedanta और एलआईसी हाउसिंग पर होगी नजर आज सुबह ग्यारह बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन के साथ होगा संसद के बजट सत्र का आगाज दोपहर बारह बजे से इकोनॉमिक सर्वे की सबसे बड़ी खबर सिर्फ जी बिजनेस पर मार्केट मांगे मोर में आज ज्योतिवर्धन जयपुरिया से जानेंगे उनकी बजट उम्मीदें और न्यूज पर व्यूज में एसपीएफ इंडिया के एमडी मनीष भटनागर होंगे हमारे साथ दस बजकर चालीस मिनट पर नमस्कार सिटीजन आपका स्वागत है आप देख रहे हैं ब्रेकफास्ट आपके साथ मैं हिमांसी दवे हफ्ते का आपकी कारोबारी सत्र और सोमवार के दिन भारतीय बाजार के लिए काफी इंपॉर्टेंट दिन है इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट दिन बजट का आगाज बजट आता हुआ दिखेगा और इसी के साथ काफी सारे ट्रिगर्स भी हैं जिस पर हमें फोकस रखना है लेकिन सबसे पहले विदेश बाजार के संकेत आपको दिखा देते हैं एक एक कौन सी खबरें हैं ब्रोकरेज साथ ही मार्केट का एक्शन स्ट्रेटजी सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे इस एक्सेप्ट आपकी ट्रेड स्क्रीन पर एक सौ तेईस अंकों की बढ़त के साथ यहाँ पर ट्रेड देखेंगे अच्छी शुरुआत यहाँ पर तेरह हजार नौ सौ पचास की स्तर पर होती हुई दिख रही है वहीं तमाम शाही बाजार एक आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे हांगकांग के बाजार के लेवल पर ट्रेड हुआ देखें यहाँ पर कई दो सौ पचहत्तर अंकों की बढ़त है निकल में भी करीब सत्तर अंकों की तेजी के साथ ट्रेड होता हुआ शाही बाजार की शुरुआत ठीक ठाक होती हुई डाउ फ्यूचर्स में हल्की सी गिरावट के साथ फिलहाल कामकाज आप देखेंगे बीते रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें सेशन अच्छा चल रहा था लेकिन उतार चढ़ाव देखने को मिले और आखिरी घंटों में मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली करीब तीन सौ अंकों की यहाँ पर बढ़त के साथ डाउन में आप तेजी के साथ लोजिंग देखेंगे एसएनपी और नैसडेक में भी देखिए हर निशान के साथ ट्रेड देखने को मिला विदेशी बाजार के संकेतों को आज कैसे समझना है कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है पांच भंडारी से जान लेते हैं थोड़ी देर में बिजनेस मैनेजिंग एंड एनालिसिस भी हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे आज के लिए पहली रणनीति समझेंगे दीपांश गुड मॉर्निंग बताएं विदेशी बाजार के संकेतों को आज कैसे देखना है और आज के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो कि फोकस में रखना क्या है गुड मॉर्निंग मानसी और अच्छे संकेत आ रहे हैं स्पेशली जिस तरह से कल माहौल था साढ़े बजे क्लोजिंग हुई तो हम देख रहे थे कि बाकी ग्लोबल बाजार काफी वीक लग रहे थे डाउ फ्यूचर्स में भी लगभग दो की गिरावट थी तो उसके मुकाबले अगर आप देखें तो अच्छे संकेत हैं हालांकि ऊपरी सरत और एशिया में भी थोड़ी मुनाफा वसूली देखिए कल शाम के अगर आप देखें तो वैसे तो एक अच्छा रिबाउंड आया अमेरिकी बाजार में डाउट भी तीन सौ की बढ़ती नजर आधा परसेंट बढ़कर बंद हुआ पर आखिरी घंटे में काफी तेज मुनाफा वसूली भी हुई और दिन की ऊंचाई से लगभग साढ़े तीन सौ अंक फिसल लगातार डाउ बंद होते हुए दिखाए पर हमने देखा कि कल इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी रही साथ ही बैंक और फाइनेंशियल की भी आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिखी जिसकी वजह से बाजार को सहारा मिला और तो कुछ दिग्गज शेयर थे जो अपने अर्निंग्स पर रिएक्ट करते थे तो वहां पर भी बाजार में एक्शन रहा पर एक बार फिर से एप्पल के शेयर में हमने बिकवाली देखी नतीजों के बाद ये शेयर परसों तीन परसेंट फिसला था और कल शाम भी हमने देखा कि वापस तीन साढ़े तीन परसेंट की यहाँ पर गिरावट रही तो यहाँ से भी थोड़ा सा दबाव आते हुए आपको दिखा है रॉबिनहुड जो कि वहाँ की डिस्काउंट ब्रोकरेज ऐप है जिसके जरिए काफी सारे शेयर्स में एक दमदार उछाल आते हुए दिख रहा था जैसे कि एएमसी का शेयर है या फिर हम गेम्स स्टॉक के शेयर की बात कर रहे हैं वहां पर रॉबिनहुड ने कल इन शेयर्स में खरीदारी पर कुछ रोक लगाई और इसकी वजह से हमने काफी ज्यादा उतार चढ़ा बाजारों में भी देखा और इसके अलावा भी आगे जाकर कुछ एक्शन इसके जरिए आ सकता है तो ये फैक्टर है जहाँ पर नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने कुछ शेयर की खरीदारी में रोक लगाई इसलिए हेज फंड्स को एक राहत मिली और इसलिए हमने देखा कि बाजार का सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव रहा यूएस की क्यू जीडीपी का डेटा आया चार परसेंट की ग्रोथ हमने देखी अनुमान साढ़े चार की ग्रोथ के आसपास था और पूरे साल के लिए यूएस की जीडीपी में थ्री पॉइंट फाइव परसेंट का कॉन्ट्रैक्शन दिखा साल दो के लिए जो छियालीस साल में सबसे कम हमने देखा है अगले हफ्ते सिमिलर प्लान पर चर्चा हो सकती है तो एक नया क्यों निकल रहा है जहां पर बाजार की नजर बनी रहेगी यूरोप में थोड़ा मिला जुला एक्शन रहा वहीं अगर आप कमोडिटीज की बात करें तो तेल और सोना दोनों ही दायरे में रहे डॉलर पर भी ज्यादा एक्शन कल नहीं देखने को मिला बिल्कुल तो चलिए फिलहाल शुरुआती एक्शन देखने को मिल रहा है विदेशी बाजार से बाजार की शुरुआत अच्छी होती हुई दिख रही है और आने वाले हफ्ते के लिए पर भी फोकस रहेगा आगे बढ़ते हैं जानते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया एफआईएस डीएस का एक्शन और एफआईएस कैश मार्केट में बड़ी बिकवाली की है बिकवाली के आंकड़े एक बार आप देखिए एफआईएस कैश मार्केट में तीन हजार सात सौ तेरह करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से भी करीब एक हजार सात सौ सैंतीस करोड़ की बिकवाली के ही आंकड़े आते हुए दिखे हैं और वायदा बाजार में एफआईएस ने जरूर खरीदारी की है पांच हजार नब्बे करोड़ की तो क्लियरली कैश मार्केट में एफआईएस और डीआईएस बिकवाली कर रहे हैं फैक्ट एफआईएस की बड़ी बिकवाली तीन हजार सात सौ तेरह करोड़ की कैश मार्केट में है लेकिन वायदा बाजार में अपने आपको के एफआईएस ने करीब पांच हजार नब्बे करोड़ की खरीदारी भी की है अब यहाँ पर विदेशी बाजार के संकेतों में अच्छी शुरुआत हम देख रहे हैं लेकिन एफआईएस की कैश मार्केट में बिकवाली को कैसे समझे साथ ही क्योंकि अब जल्द बजट आने वाला है तो इन तमाम इवेंट्स को समझते हुए आज के लिए आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा दिखेगा स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ये जानना होगा आपको जान लेते हैं रुकते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का जहां रोज बात करते हैं बिजनेस के मैनेजमेंट से सर गुड मॉर्निंग विदेशी बाजार के संकेतों को देखते हुए आज भारतीय बाजार के लिए पहली रणनीति क्या होगी देखिए अमेरिकी बाजार में उम्मीद से बेहतर वाला सेशन रहा और वैसे उनका चढ़ाव तो था लेकिन फिर भी फाइनली तीन सौ ऊपर बन हुए जैसे आप देखना चाहें दो तो तीन सौ तीन सौ ऊपर बन हुए और ऊपर से तीन सौ तीन सौ नीचे बन हुए लेकिन फिर भी थोड़ा बेहतर है तो, और भारतीय बाजार में भी पांच दिनों के करेक्शन के बाद एक साइड जो जिसका दबाव वो खत्म होता है तो एक बाउंस तो बनता है इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन बाउंस में कितना ऊपर सस्टेन कर पाएंगे वो देखना होगा और रीजन ये कल बजट है तो बजट से पहले ट्रेडर्स बहुत तेजी की तरफ कमिटमेंट करेंगे ये देखने वाली बात है प्लस एफआई की तरफ से भी क्या वापस से खरीदार के आते हैं कल के आंकड़े बढ़े थे लेकिन उसमें काफी कुछ एफआई का भी योगदान था तो आज एक नए ट्रेडिंग सेशन के तौर पर मुझे लगता है कि कल के लोज है वहीं पर इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल है तेरह हजार सात सौ तेरह हजार आठ सौ पच्चीस दिन के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे और ऊपर की तरफ तेरह हजार नौ सौ पच्चीस तेरह हजार नौ सौ पचहत्तर की रेंज है पहले जहाँ पर जाकर बाजार रुक सकते हैं एक बार चौदह हजार के पांच निकलते टिके आज इंपॉर्टेंट ये है कि क्लोजिंग देखी जाएगा क्लोजिंग चौदह हजार के ऊपर आज मिलती है तो फिर बजट से पहले एक बार बाजार चौदह हजार दो सौ चौदह हजार दो सौ पचास की तरफ जाने की कोशिश करते हैं बजट क्या चौदह हजार के ऊपर हम टिक पाए अब जहाँ तक बैंक का सवाल है बैंक में भी कल का एक्शन ज्यादा बेहतर था इतने खराब बाजार में भी रिकवर बैंक के निशान बंद होने में कामयाब रहा तो जो सपोर्ट रेंज बैंक के लिए नीचे की तरफ उनतीस हजार सात सौ उनतीस हजार आठ सौ पचास आज के लिए मानते चले आप और ऊपरी स्तर पर एक बार तीस हजार छह सौ तीस हजार सात सौ पच्चीस ये छोटा लेवल है यहाँ पर खुलने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है उसके बाद मोमेंटम बढ़ रहा तो ऊपर इकतीस हजार इकतीस हजार दो सौ के रेंज तक भी बैंक जाने की कोशिश कर सकता है बिल्कुल अनिल सर शुक्रिया ये स्ट्रेटजी हमें बताने के लिए तो आप आपके अनिल जी की तरफ से उनकी पहली स्ट्रेटजी आपके सामने है तेरह हजार सात सौ तेरह हजार आठ सौ पच्चीस निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन के तौर पर आप मानकर चले तेरह हजार नौ सौ पच्चीस तेरह हजार नौ सौ पचहत्तर निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज होगी वहीं उन्तीस हजार सात सौ उन्तीस हजार आठ सौ ये निफ्टी के लिए मजबूत बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन का काम करेंगे वहीं तीस हजार छह सौ तीस हजार सात सौ पच्चीस बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज होगी जिसको आपको ध्यान रखना खासतौर से आज का ट्रेडिंग सेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सोमवार के दिन जब बाजार फिर खुलेंगे बजट का दिन होगा इसी के चलते आज क्या ट्रेड देखने को मिलते हैं कौन से वॉलिटाइल सेशन में कामकाज देखने को मिलता है क्या इंपैक्ट पड़ता है बाजार पर कौन सी स्ट्रेटजी आपको अपनानी है सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्ट्रेटजी पर जरूर गौर कीजिएगा आगे बढ़ते हैं जानते हैं कि खबर वाले शेयर और बाजार बंद होने के बाद कौन से नतीजे आते हुए देखे ध्यान रखिए लंबी लिस्ट नतीजों की सब कुछ एक एक समझते हैं दीप से दीपांश बताएं काफी अहम दिन होने वाला है कल भी काफी बड़ा दिन था नतीजों के लिए से आज से देखें तो लगभग सात निफ्टी आठ निफ्टी की कंपनीज आएंगी और वहीं बाजार कारोबार में सिमिलर नंबर रहेगा तीनों दिग्गज pharma company Cipla doctor Reddy sun pharma के नतीजे आएंगे Tata motors UPL tech Mahindra Indus bank जैसे ट्रेडर्स के नंबर्स भी रहेंगे और बाजार कारोबार से भी लंबी लिस्ट है इसके अलावा आईआरएफसी की लिस्टिंग होने वाली है वहां पर आप नजर रखिए राष्ट्रपति संबोधन करेंगे ग्यारह बजे और उसी के साथ बजट सेशन आज शुरू होगा इकोनॉमिक्स पे आएगा एक बजे और डेढ़ बजे सीए e की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है आईओसी यहाँ पर नतीजों के साथ अंतिम डिविडेंड पर भी एक्शन देख सकते हैं डीसी श्रीराम यहाँ पर नतीजों के साथ अंतिम डिविडेंड पर एक्शन आ सकता है पोस्ट मार्केट रिजल्ट की बात करें तो BEL traders weighted standalone number से आप देखें अनुमान से थोड़े कम रहे वैसे ठीक ठाक नतीजे आए e ने थोड़ा डिस्पॉइंट करा है सिर्फ एक परसेंट की बढ़त रही कामकाजी मुनाफा चौबीस परसेंट बढ़कर आया है मार्जिन में आपने अच्छा एक्सपेंशन देखा है कमेंट्स यहाँ पर आप देखें तो नतीजे काफी अच्छे है हालांकि आए गिर रही है दो परसेंट पर अनुमान से बेहतर रही कामकाजी तौर पर बारह परसेंट आपने कामकाजी मुनाफा में बढ़ देखिए मार्जिन में बढ़िया एक्सपेंशन और मुनाफा बीस परसेंट बढ़ा है जो कि अनुमान से काफी ज्यादा रहा है फिडलाइट यहाँ पर नतीजे अच्छे आपको आते हुए देखें आय में हमने देखा लगभग उन्नीस परसेंट की बढ़ रही है कामकाजी मुनाफा अड़तीस परसेंट बढ़ रहा है मार्जिन में हमने बढ़िया एक्सपेंशन देखा है मुनाफा भी उनतीस परसेंट बढ़ा है इनकी सेगमेंट परफॉर्मेंस में कंज्यूमर बिजनेस और बी टू बिजनेस दोनों ही अच्छा परफॉर्म रहा है और मैनेजमेंट कमेंट्री ज्यादा काफी अच्छी रही है लुपिन यहाँ पर नतीजे अनुमान से बेहतर है आई में हमने देखा लगभग छह परसेंट की बढ़त रही एबिटा एटी वन परसेंट बढ़कर आया है मार्जिन में आपने एक्सपेंशन देखा है और सबसे बड़ी बात घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी तो ये एक अच्छा एक्शन रहा है टाटा केमिकल्स नंबर अच्छे हैं और एडजस्टेड नंबर है अगर आप देखें टाटा कंज्यूमर बिजनेस के डीमर्जर के बाद उसके उस पर अगर आप देखें तो आई एकदम सपाट रही है कामकाजी मुनाफा सपाट है मार्जिन स्टेबल है मुनाफे में हल्की बढ़त हल्की गिरावट देखिए पर एडजस्टेड बेसिस पर देखें तो अच्छे ही नंबर है ये एम फाइनेंस यहाँ पर कमजोरी आपने देखिए है एनआईआई में आपने सपाट एक्शन देखा है पर मुनाफे से घाटे में आई है टू 274 करोड़ का लॉस है वर्सेस 365 करोड़ का प्रॉफिट एसेट क्वालिटी काफी बिगड़ी है ग्रॉस एनपीएस नेट एनपीएस दोनों ही उछल कर आए हैं डिस्बर्समेंट में हमने गिरावट देखी है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस यहाँ पर ठीक ठाक आप नतीजे देखे एनआईआई एक डेढ़ परसेंट बढ़कर आई है घाटे से आपने देखा है कि मुनाफा सत्रह परसेंट गिरकर आया है और प्रोविजन में फिफ्टी वन परसेंट की बढ़त रही है एसेट क्वालिटी इनकी स्टेबल थी इंडस टावर्स यहाँ पर अच्छे नतीजे देखे हैं आपने और अगेन एडजस्टेड नतीजे हैं आफ्टर डीमर्जर छह परसेंट आई आपने बढ़ देखी है मार्जिन में आपने सुधार देखा है मुनाफा बीस परसेंट बढ़ा है पर सबसे बड़ी खबर यहाँ पर है सेवेंटी पॉइंट एट रुपीज पर शेयर का इन्होंने एक स्पेशल डिविडेंड का ऐलान करा है तो इसकी वजह से आप वोडाफोन को भी एक्शन में देखेंगे टीवीएस e मोटर्स यहाँ पर आपने देखा अच्छे नतीजे रहे आई तीस परसेंट पड़ी है एबिटा भी बढ़ रहा है मार्जिन में भी एक्सपेंशन रहा है इंडिगो कल मार्केट बंद होकर नतीजे आए थे थोड़े मिले जुले से इनके नतीजे रहे हैं आपने देखा कि आई में और ये तिमाही तिमाही अगर कंपेरिजन करें तो अच्छी नतीजे रहे नौ परसेंट आई में आपने बढ़ देखी है एबिटा में भी आपने एक्सपेंशन देखा है लॉस जो है उनका आधा हो गया पर अभी भी छह सौ बीस करोड़ का लॉस है और फाइनली आरबीएल बैंक यहाँ पर नतीजे थोड़े अनुमान से कम रहे एनआई में हल्की सी गिरावट देखी है एसेट क्वालिटी में डेफिनेटली में सुधार दिखा पर अगर आप मॉरिटेरियम का फैक्टर निकाल दे तो एसेट क्वालिटी काफी खराब होकर आई है और स्टोव क्राफ्ट आईपीओ इसका कल आईपीओ खत्म हो गया टोटल 18 टाइम सब्सक्रिप्शन इनको मिला है रिटेल इनका सब्सक्रिप्शन 27 टाइम्स का ओके तो नतीजों का सीजन पूरे जोश में है और कई सारे नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आते हुए देखा कई सारी खबरें भी हैं दीपांशु तो शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए खबर वाले शेयर और विदेशी बाजार के संकेत में बताने के लिए एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं ब्रेक के उस part market market action group action equity markets पर रिकमेंडेशन ट्रेडिंग कॉल्स आपको बताएंगे आप बने रहें dollar big boss Twitter boss break के बाद स्वागत है आपका बिजनेस के खास बाजार आंसर कल में सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति बताई है अभी ये देख सकते हैं आज जो एक ऑप्शन लेकर आया हूँ वो है आईसीआईसीआई बैंक आमतौर पर दो ऑप्शन लेकर उनके मैं समझता हूँ इस वक्त अभी भी मार्केट लगता है कि बहुत हो रहा है लेकिन फिर भी एक ही ऑप्शन दे रहा हूँ और वो है लॉन्ग आईसीआईसीआई बैंक की पांच सौ चालीस कॉल बीस रुपए सत्तर पैसे क्लोज हुई थी सौ लें अठारह रुपये का और टारगेट रहेगा आपका चौबीस रुपए पचास पैसे और आगे बढ़ते हैं और ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए आप जान लेते हैं तीन कॉल्स है तीनों की तीन खरीदारी की है चॉइस बुकिंग से शुरुआत करेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट पर ये खरीदारी की राय दे रहे हैं खरीदारी की जा सकती है पांच हजार छह सौ नब्बे के टारगेट को ध्यान रखते हुए पांच हजार तीन सौ चालीस का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है Anand Rathi securities SBI Petronet LNG पर खरीदारी की राय दे रहे हैं एसबीआई कल के ट्रेडिंग सेशन में तीन प्रतिशत की बढ़त के साथ अच्छी तेजी दिख रहा था टू नाइन की टारगेट आज भी देखने को मिल सकते हैं टू सेवेंटी सिक्स का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए पेट्रोनेट एलएनजी यहाँ पर भी खरीदारी की जा सकती है दो सौ इक्यावन के टारगेट दो सौ सैंतीस का यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है बाजार पर क्या हुआ आपकी स्ट्रेटजी किन शेयरों पर आज आप पैसे लगाएंगे बताने के हमारे साथ ग्लोब कैपिटल मार्केट के मांचु गुप्ता जुड़े हैं मांचु गुड मॉर्निंग सबसे पहले आज के लिए मार्केट पर आपका आउटलुक के साथ ही आपकी रिकमेंडेशन भी हम जानना चाहिए गुड मॉर्निंग जी देखिए हमारा ऐसा मानना है कि कल बाजार के एक्सपायरी के चलते निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से आखिरी घंटे में अच्छा बाउंस दिखाया और आज जिस तरह से फेवरेबल पॉजिटिव ग्लोबल क्यों है नई एक्सपायरी सीरीज शुरू हुई है और बजट से पहले हम जो पोजीशन है वो लाइट है तो हमें लगता है कि आखिर के सेशन में अच्छी रिकवरी रैली बाजार में देखने, देखने को मिल सकती है तो यहाँ पर क्लियरली हम लोगों की तरफ से खरीदारी की रहेगी निफ्टी की अगर बात करें तो तेरह हज़ार आठ सौ पचास आठ सौ अस्सी इस जोन में कोई सारी मेटिक मिलता है तो वहाँ पर फ्लोर फेवरेबल बनेगा लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए तेरह हज़ार नौ सौ पचास चौदह हज़ार बीस चौदह हज़ार पचास तक के टारगेट हमारा ऐसा मानना है कि निफ्टी आखिर सेशन में दिखा सकता है इस तेजी पोजीशन के लिए हमारा मानना रहेगा कि तेरह हज़ार सात सौ माफ कीजिएगा तेरह हज़ार आठ सौ पचास के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है साथ ही बैंक की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी हमने देखा कि लोअर लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी वहाँ पर भी हमें ऐसा लगता है कि तीस हजार पांच के आसपास लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट किए जा सकते हैं तीस हजार आठ सौ तक के टारगेट के लिए और तीस हजार तीन सौ का हमारे स्टॉप लगाया जाता है अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि bank financial cement select autos और रियल स्टॉक में धीरे धीरे देखने को मिल सकती है और स्टॉक स्पेसिफिक हमारी रिकमेंडेशन है कि आईसीआईसी बैंक में खरीदारी की पाँच सौ चालीस पाँच सौ पैंतालीस तक के टारगेट के लिए और पाँच सौ बाईस रुपये का हमारे स्टॉप लॉस मेंटेन किया जाता है हिमांशु शुक्रिया विस्तार से हमें आपकी रिकमेंडेशन स्ट्रेटजी सेक्टर स्पेसिफिक राय uh, बताने के लिए आगे बढ़ते हैं कमोडिटी बाजार पर आज की क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए अब जान लेते हैं हमने बात की एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती के ऐसे उनकी कौन आपके सामने रखते हैं बेस मेटल्स पर वंदना बुलिश है वहां पर खरीदारी की राय दे रही है खासतौर से जिंक और निकल जिंक में तेजी हम देख रहे हैं कि निकल में हमने देखा कि ट्रेडिंग सेशन में लाल निशान के साथ ट्रेड जरूर था लेकिन बुलिश नजरिया जिंक में खरीदारी की जा सकती है 202 के स्टॉप uh, लॉस को मानकर चलें टारगेट 207 सौ सात पर आपको लगाना होगा वहीं निकल में भी खरीदारी की राय वंदना की तरफ से आती है एक हजार का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 1315 हजार लेवल पर 1300 के स्तर पर अगर मिल जाए तो खरीदारी की राय यहां पर बनती हुई तो क्लियरली कमोडिटी मार्केट्स में बेस मेटल्स की चाल है जो कि uh, खास फोकस में रहेगी इसके अलावा सोने चांदी और कच्चे तेल की चाल में भी हमने उतार चढ़ाव के बीच ट्रेड देखा है उनमें के लेवल्स पर ट्रेड देखा है आप आगे ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे लेकिन आगे बढ़ते हैं वक्त है एफआईआर का ग्रुप रिपोर्ट से पहुंच जाने का गुड मॉर्निंग शशि बताएं कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है गुड मॉर्निंग मानसिक ढेर सारी नतीजे इसलिए रिपोर्ट्स की भी सबसे पहले देखते हैं मारुति सुजुकी अनुमान से कम से कमजोर है नतीजे पर ब्रोकर्स यहाँ पे पॉजिटिव नजर आए हैं जेफरीज ने अपने दस के टारगेट्स बरकरार रखे हैं खरीदारी किराए के साथ वहीं अगर हम क्रेडिट स्विस की बात करें तो उन्होंने आठ लक्ष्य बढ़ा के नौ के कर दिए हैं गोल्डन सैक्स ने लक्ष्य में कटौती की है खरीदारी किराए बरकरार रखी है नौ उनके टारगेट्स हैं जेपी मॉर्गन ने नौ के अपने लक्ष्य बरकरार रखे हैं ओवर रेटिंग के साथ मॉर्गन स्टैंडी ने भी ओवर रेटिंग के साथ आठ के टारगेट्स दिए और नोमिरा ने लक्ष्य में बढ़त किया न्यूट्रल रेटिंग है इनकी पर सात के अपने टारगेट्स बता रहे हैं इसके अलावा इंडिको नतीजे जो उसमें नतीजों में जो घाटा था वो अनुमान से काफी ज्यादा था जिसको लेकर ब्रोकर्स निराश होते नजर आए हैं मॉर्गन स्टैंडी ने एटीन के अपने टारगेट्स बरकरार रखे हैं गोल्डन सैक्स ने खरीदारी किराए बरकरार रखी है पर दो से लक्ष्य घटाकर अठारह सौ साठ की कर दी है जेपी मॉगन की तरफ से रेटिंग डाउनग्रेड आया है न्यूट्रल की रेटिंग बदलकर उन्होंने अनुवेद की रेटिंग कर दी है और साथ ही पंद्रह सौ से लक्ष्य घटा उन्होंने चौदह की कर दी है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस अनुमान काफी अच्छे नतीजे थे जिसको लेकर ब्रोकर्स बुलिश है गोल्डमैन सबसे ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव है तेरह सौ अस्सी के टारगेट्स दे रहे हैं मॉगन स्टैनली ने तेरह सौ सत्तर के अपने लक्ष्य बरकरार रखे हैं मैक्वारी ने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ बारह सौ पचास के दिए हैं क्रेडिट ने ग्यारह सौ के अपने लक्ष्य बरकरार रखे हैं न्यूट्रल रेटिंग के साथ जेफी अभी बीस परफॉर्म रेटिंग दे रहे हैं नौ सौ के टारगेट्स के लिए आरबीआई बैंक यहाँ पे भी ब्रोकर्स की रिपोर्ट है जेपी मॉगन ने न्यूट्रल रेटिंग के साथ दो से लक्ष्य बढ़ा के दो सौ तीस के कर दिए और क्रेडिट ने भी लक्ष्य बढ़ा की है पर मार्केट प्राइस काफी कम है अनपरफॉर्म रेटिंग दी है उन्होंने डेढ़ सौ लक्ष्य बढ़ा के एक सौ अस्सी के कर दिए हैं टीवीएस मोटर्स यहाँ पे भी काफी सारे ब्रोकर्स पॉजिटिव नजर आए हैं एचएसबीसी ने चार सौ अस्सी से लक्ष्य बढ़ा के पांच सौ अस्सी कर दिए हैं खरीदारी किराए के साथ गोल्डमैन सैक्स ने भी लक्ष्य बढ़ा की है सेवन थर्टी वन के टारगेट्स हैं इनके जेफरीज ने भी खरीदारी के साथ छह सौ से बढ़ा के छह सौ पचपन के कर दिए हैं जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल रेटिंग साथ 565 के टारगेट्स दिए हैं और मॉर्गन स्टैनली ने अनुवे ट्रेडिंग के साथ 399 के अपने टारगेट्स बरकरार रखे हैं और आखिरी में कोलगेट पैलमोलिव यहां पे भी सारे ब्रोकर्स की काफी अच्छी और पॉजिटिव रिपोर्ट है नोमेरा ने 1850 के टारगेट्स दिए हैं बाइक रेटिंग बरकरार रखी है एचएसबीसी ने 1800 के टारगेट्स दिए हैं खरीदारी के साथ जेफरीज भी खरीदारी के साथ 1830 से अपने टारगेट्स बढ़ा के 1850 के कर दिए हैं और बाकी सारे ब्रोकर्स को देखें तो सबसे ज्यादा कम टारगेट्स हैं गोल्डन सैक्स के जिन्होंने 1699 के टारगेट्स दिए हैं पर लग रहा है सभी ने अपने लक्ष्य में रखी है ओके सृष्टि शुक्रिया ब्रोकर जो रिपोर्ट बताने के लिए कई ब्रोकर जो रिपोर्ट्स आई हैं और इनसे जुड़ा एक्शन के दिन के दौरान हम आपको जरूर बताएंगे चलिए फिलहाल पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही लेकिन आगे ट्रेडर्स डायरी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं दमदार ट्रेडिंग आइडियाज ट्रेडर्स डायरी में चंद मिनटों में आपके लिए बने रहें बिजनेस के साथ नमस्कार प्रायोजक Kamdhenu next double rib TMT bar next generation interlock steel Patanjali गाय का देसी घी खाएं मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं और ओकिनावा देश का इलेक्ट्रिक स्कूटर देश का विश्वास ओकिनावा प्रस्तुत करता पतंजलि च्यवनप्राश खाएं रोगों से लड़ने की पूरी ताकत राइट मैदा ट्रांसफर कोलेस्ट्रॉल रहित पतंजलि बिस्किट खाइए हेल्दी इंडिया बनाइए फूलों के बराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी काम की रूपेंस आत्मनिर्भर भारत के नए इंडिया के बड़े भैया इसीलिए dot in search Agarwal package dot in the original Agarwal package and movers Okinawa देश का इलेक्ट्रिक स्कूटर देश का विश्वास ओकिनावा वर्ल्ड लार्जेस्ट मूवर्स यानी Agarwal package and movers limited और इसकी एक ही पहचान ये चेहरा और sky decor India first antibacterial PVC laminates SJ Nifty करीब 130 अंकों की तेजी के साथ 14000 के पास डाउ फ्यूचर सपाट जापान का निकाय करीब 50 अंक मजबूत क्यूमेंस पेटेलाइट लुपिन और टाटा केमिकल के नतीजे अनुमान से बेहतर बीएल यूबीएल और एमएनएम फाइनेंस ने किया निराश आज निफ्टी की आठ दिग्गज कंपनियां जारी करेंगी नतीजे Cipla doctor Reddy sun pharma Tata motors tech Mahindra IOC IndusInd bank और यूपीएल पर होगी नजर वायदा बाजार की नौ और कंपनियां भी आज जारी करेंगी नतीजे DLF SAIL Dabur Manappuram finance Vedanta और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर रहेगी नजर वहीं आज लिस्ट होगी रेलवे की कंपनी आईआरएफसी इशू प्राइस छब्बीस रुपए का आठ बजे अनिल सिंह से जानेंगे लिस्टिंग की रणनीति और आज सुबह ग्यारह बजे राष्ट्रपति राजनाथ रामनाथ कोविंद के संबोधन के साथ होगी संसद के बजट सत्र की शुरुआत दोपहर बारह बजे से इकोनॉमिक सर्वे की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ जी बिजनेस पर नमस्कार ट्रेडर्स में आपका स्वागत है आपके साथ मैं वरुण दुबे और नमस्कार मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता तो वरुण आज का बुलबाउल कैसा लग रहा है क्योंकि ग्लोबल बाजारों से तो तेजी देखने को मिली ग्लोबल बाजारों से संकेत अच्छे वैसे यूएस मार्केट अगर देखें तो थोड़े बहुत मिले जो संकेत एक समय तक डाउन में करीब तीन सौ के आसपास की तेजी देखने मिली उन लेवल से थोड़ी गिरावट जरूर हुई है लेकिन बंद देखे हर निशान में हुए और एक एक के आसपास की तेजी वहां देखने मिली है इसके अलावा अगर बाकी मार्केट देखे सुबह सुबह एजेक्स देखिए सबसे बड़े संकेत तो वहां से देखने मिले करीब एक सौ बीस पॉइंट के आसपास की तेजी है हालांकि सुबह की तेजी से थोड़ा कम हुआ है क्योंकि करीब चौदह हजार के लेवल के आसपास एजेक्स एक समय तक ट्रेड कर रहा था लेकिन वहां से फिर चालीस पॉइंट के आसपास की नमी आई है लेकिन नो डाउट संकेत अच्छे हैं कल यूरोप के मार्केट भी अगर देखेंगे तो वहां भी मिले जो संकेत देखने मिले थे आज सुबह सुबह एशियन मार्केट अगर देखेंगे तो वहां भी अच्छे खासे संकेत है तो ओवरऑल अगर देखें तो आज साफ नजर है कि एक बाउंस बैक का दिन है जो इतने दिनों से गिरावट देखने मिली थी वहां से आपको एक बाउंस तक जरूर देखने मिलेगा कुछ चिंताजनक बातें भी है जैसे कि की दिवाली जो है वो लगातार जारी है तो कहीं वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है और दूसरी बात यह है कि सोमवार को बजट है और उसके पहले का ये आखिरी ट्रेडिंग सेशन है आई मीन तो उसके चलते थोड़ी चिंता है लेकिन बाउंस बैक का तो बाउंस बैक का इंटरनेट में आप कर सकते हैं फर्स्ट आपको बाउंस बैक आप कर लीजिएगा सेकंड हाफ में शायद आपकी चेंज करनी पड़ेगा बिल्कुल इनफैक्ट दो पॉजिटिव मुझे लगे कि एक्सपायरी की शुरुआत भी हुई आज के दिन से ही और कहीं ना कहीं जिस तरह का ओवरऑल मूड माहौल बना हुआ था पिछले पांच दिनों से हम्म। गिरावट हमें देखने को मिली थी अब कहीं ना कहीं उसके रिवर्सल के संकेत जो है ग्लोबल बाजारों से हमें क्लियरली जो है क्यूज मिलते हुए नजर आ रहे हैं दो कैच तो- बाउंस वाला <laughs> तो देखेंगे कहां पे बाउंस बैक होगा राइट कुछ कुछ बेचा कुछ एक एक स्टॉक बेचा अच्छा, एक स्टॉक बेचा मैंने भी एक स्टॉक बेचा तो एक स्टॉक क्या बेचा आपको बताएंगे लेकिन शुरुआत कैश कर लेते हैं एकदम राइट चलिए कैश अकाउंट में आपको पहले बता देता हूं कहां पे मैंने चॉइस कैसा था पहला काउंटर और देखिए कुछ सबसे मेन तो है सीमेंट कंपनी के नतीजा देख लीजिए क्या नतीजा रहे हैं सीमेंट इसके पहले जितनी अल्ट्राटेक जितनी सीमेंट कंपनी के नतीजा है बेहतरीन नतीजा आपको देखने मिले हैं और कहीं ना कहीं आज जो है सांगी इंडस्ट्रीज के नतीजा आने वाले हैं तो इस कंपनी के ऊपर आप नजर रखिए क्योंकि सीमेंट और सीमेंट प्रोडक्ट के कारोबार में ये कंपनी है और इस कंपनी के साथ फंडामेंटल रीजन ये काफी काफी विस्तार की योजना जो है वो कंपनी बना रही है तो उसका इंपैक्ट भी देखने मिलेगा नतीजा तो अच्छे रहेंगे सीमेंट स्पेस की कंपनी है और साथ साथ याद रखिए फंड रेजिंग पे भी कंपनी की बोर्ड की बैठक है मेरे ख्याल से उसके पहले अच्छी पोजीशन का मौका जो है आपके लिए बनता है और वैसे भी अगर देखेंगे ना तो मार्केट की गिरावट में भी काउंटर गिरा नहीं है तो कहीं ना स्ट्रेंड जो है इनहेरिटेंस स्ट्रेंड जो है वो काउंटर आपको साथ दिखा रहा है इसके मेरे ख्याल से आपको खरीदारी करके चलना चाहिए इंटरनेट में 37 के लक्ष्य खरीदारी कीजिएगा 35 का आपको एक स्टॉक बिल्कुल वरुण मतलब डिमांड तो स्ट्रांग है ही साथ ही कैपेक्स और फर्दर करेंगे डेफिनेटली तो जो आगे आने वाली डिमांड है उसके बजट के बाद कुछ बड़े एलान रात में तो पूरा एंटायर सीमेंट स्पेस जो है आगे के लिए भी फोकस में रहेगा ये है ना ये स्टॉक मैं इंट्राडे के लिए तो आपको दे रहा हूं क्योंकि नतीजे वाले उसके पहले लेकिन जिस तरह की विस्तार की योजना है इस कंपनी की मेरे ख्याल से दुगना हो जाएगा स्टॉक हाँ। दुगना डेफिनेटली दुगना हो जाएगा इसलिए आपको इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना बाकी स्ट्रीम स्टॉक्स को देखिए किस तरीके से भागे हैं इस तरह ध्यान दिया उन्होंने पीछे सीमेंट नहीं लगा इसलिए लोगों ने ध्यान दिया आगे इसके आप सांगी सीमेंट लगा दीजिए फिर देखिए कैसे चलता है <laughs> बिल्कुल तो सीमेंट एक बजवर्ड बनना चाहिए इनफैक्ट जिस तरह से अब आगे कैपेक्स योजना बन रही है तो कैश स्पेस से सांगी इंडस्ट्रीज वरुण ने आपको दिया है और मैंने चुना है ब्रोकरेज स्पेस से एंजल ब्रोकिंग को आप देखिए बेहतरीन नंबर इसके भी आते हुए नजर आए थे और यहाँ पर अगर आप देखें तो नंबर के लिहाज से मुझे काफी ज्यादा बढ़िया जो है इसमें मार्जिन सकती हुई वरुण छब्बीस से बढ़कर ऑलमोस्ट पैंतीस परसेंट की मार्जिन कंपनी रिपोर्ट है साथ ही कंपनी का मुनाफा सत्ताईस करोड़ से बढ़कर तिहत्तर करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट तीन गुना जो है कंपनी का मुनाफा होता हुआ दिखा है तो ओवरऑल जिस तरह से आईपीओ से उतना अच्छा रुझान नहीं देखने को मिला था पर जिस तरह से अकाउंट खुलते हुए नजर आए हैं पेंडेमिक के दौरान और इनके लिए इनकी ओवरऑल पूरा का पूरा जो है डिजिटल स्पेस है तो कहीं ना कहीं उससे इनको काफी बड़ा फायदा जो है इस दौरान मिलता हुआ दिखा है जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं नतीजों में तो तीन सौ अठहत्तर के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए तीन सौ पैसठ रुपये का आपको स्टिक स्टॉप लगाना होगा चलिए चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है फ्यूचर्स की और यहाँ पर टाटा मोटर्स इसके फ्यूचर जो है आपको आपके लिए खरीद चलना है इनफैक्ट मैं एरिया देख रहा था तो करीब साढ़े तीन हम इनफैक्ट सुबह तो साढ़े तीन चार परसेंट जो है एरिया ऊपर बंद होता हुआ दिखा तो कहीं ना कहीं उससे पॉजिटिव है क्योंकि आज इसके नतीजे आने वाले हैं नतीजे हाँ, ये ये काफी खतरनाक अच्छा संकेत है एक्चुअली क्योंकि यानी कि लोग कुछ ना कुछ करके चल रहे हैं 101% चाहिए नतीजे बेहतर अनुमान बनाए अनुमान मैंने हाँ। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट का अनुमान है मेरा बट हम्म। जो एरिया संकेत दे रहा है हम्म। उससे क्लियरली जैसे हम बात कर रहे थे इंडिकेट कर सकता है कि टाटा मोटर्स में आपको एक अर्निंग सरप्राइज भी आज देखने को मिल सकता है और जिस तरह से ईवी स्पेस में आपको इतना ज्यादा बूस्टअप मिलता नजर आ रहा है भारतीय बाजारों में टेस्ला के आने के बाद कहीं ना कहीं वो भी काफी बड़ी कमेंट्री पर जो है आपकी नजर रहेगी तो हो सकता है कमेंट्री को देखते हुए इंडिया एडीआर तीन साढ़े तीन का उछाल दिखा रहा है डेफिनेटली बोल कॉल है और इंडिया को देखते मुझे तो लग रहा है कि काफी अच्छी चीज आज के समय में बन सकती है हम्म। तो इसके फ्यूचर में खरीदारी कीजिए दो सौ तिहत्तर का टारगेट रखिए दो सौ चौसठ रुपए का आपको स्टॉक लगाना होगा तो फ्यूचर में आपको टाटा मोटर्स खरीदना है नतीजों के पहले एडीआर में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है तो शायद आपको यहाँ पे अच्छे नतीजे भी देखने मिलेंगे फ्यूचर में मैं बिपाली का कॉल दे रहा हूँ जो एक मात्र बिपाली का कॉल है वो ये है और वो है का नो डाउट करके के गिरते बाजार में कॉन्टेक्ट गिरा नहीं था अच्छी बात है लेकिन आप ओवरनाइट देखिए डॉलर इंडेक्स में किस तरह की बढ़ोतरी देखने मिली है कच्चे तेल की डिमांड को लेकर भी कंसर्न है तो मेरे ख्याल से उसके चलते आज शायद स्टॉक जो है थोड़ा बहुत प्रेशर में रह सकता है इसके लिए आपको यहाँ बिकवाली करके चला है एटी एट के लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं नाइनटी वन का आपको स्टॉप लॉस है स्टॉप लॉस और लक्ष्य दोनों जो है वो काफी सीमित दायरे में क्योंकि आज बाउंस बैक का दिन है इसके मुझे लगता है यहाँ थोड़ा आपको कॉशियस ट्रेड करना है लेकिन जिससे डॉलर इंडेक्स चलता जा रहा है मुझे लगता है साउंड नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा चले चलते अगली कैटेगरी पे जो कि ऑप्शन का कैटेगरी और ऑप्शन में आपको खरीदना है एचडीएफसी बैंक का चौदह का कॉल ऑप्शन लेकिन आज अगर मार्केट की वैल्यू को लीड करेगा ना तो ये एचडीएफसी ट्विंस है इसके अलावा यू नो बजाज ट्विंस है ऑटो काउंटर है ये कहना मार्केट की वैल्यू को लीड करते दिखाई देंगे क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इनकाउंटर्स में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है एचडीएफसी बैंक के चौदह के कॉल ऑप्शन आप खरीद के चल सकते हैं सेवेंटी फाइव आपको इंटरनल लक्ष्य मिलेगा फिफ्टी सिक्स का आपको स्टॉक लगता है तो कुशल ऑप्शन में क्या करूँ बिल्कुल और ऑप्शन में मैं भी सरप्राइज नहीं रखता हूँ लाइन जो है यहाँ पर बिकवाली गया है इनफैक्ट यहाँ पर बिकवाली आपको पुट ऑप्शन खरीद करनी है मैंने उन्नीस रुपए का पुट ऑप्शन जो है वो आपको खरीद कर चलना है जो भी प्राइस है वो आपको देखना होगा बट मैंने जब देख था लास्ट तो छब्बीस रुपए की प्राइसिंग आ रही थी तो यहाँ पर आप देख लीजिए अपना प्राइसिंग एडजस्ट कर लीजिए जो भी प्राइसिंग आ रहा है तो उन्नीस सौ रुपए का जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीद कर चलना है यहाँ पर और जो टारगेट बनाने हैं छब्बीस रुपए प्राइस के हिसाब से पैंतालीस रुपए का टारगेट रखेगा और अठारह रुपए का स्टॉप लॉस आप देखिए जिस तरह से कच्चे तेल में वापस से जो है हमें दबाव देखने को मिल रहा है उसका इंपैक्ट जो है रिलायंस पर आता हुआ नजर आ सकता है तो ये कहीं ना कहीं रिलायंस पर आज फोकस मिलेगा तो यहाँ पर दिवाली आपको करके चलनी है मेरे से कल दिन चलने के बाद सेकंड हाफ प्रेशर में आया भी था कहीं हो सकता है कि प्रेशर और भी देखने मिलेगा तो चलिए रिलायंस और ओएनजीसी दो सेल कॉल है इसके अलावा जितने कॉल है बाइक है कौन सा है वो कॉल एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रायोजक Kamdhenu next double rib TMT bar next generation interlock steel Patanjali गाय का देसी घी खाएं मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों का परिवार को बचाएं और ओकिनावा देश का इलेक्ट्रिक स्कूटर देश का विश्वास Okinawa dollar big boss fit boss